देखने वाले को लक्ष्य करो तो कोई समस्या नहीं नहीं तो मन और संसार के अनुसार देखो तो समस्या ही समस्या प्रश्न ही प्रश्न है हल्ला गुल्ला है ओम हरि ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम